सूरज गुरूब हो गया था जब इसहाक आसिर और मीरा गांव से निकले वो इकट्ठे नहीं निकले थे उन्हें चोरी छुपे निकलना था क्योंकि गांव में मुसलमान भी रहते थे जिन्हें इस मुहिम से बेखबर रखना था वो अकेले अकेले निकले थे और बहुत दूर जाकर इकट्ठे हुए थे तीनों के पास खंजर थे इसाक और आसिर के पास तलवारें भी थीं वो बहुत दूर का चक्कर काट कर जा रहे थे वो देख रहे थे कि लोग उस जगह इकट्ठे होने शुरू हो गए थे जहाँ से शाह बलूत का दरख्त नज़र आता है जिस कम ऊंची पहाड़ी पर वो दरख्त था उस तक वो सीधे थोड़े से वक्त में पहुंच सकते थे लेकिन उन्हें इस पहाड़ी के पीछे जाना था वो इस हजूम से दूर ही दूर हटते गए जो इस इंतज़ार में वहाँ जमा हो गया था कि आज रात भी सितारा चमकेगा या वो सफ़ेद पोश आदमी रोशनी में नज़र आएगा जो एक बार नज़र आ चुका है इसहाक आसिर और मीरा उस नदी तक पहुंच गए जो उनके गांव के करीब से गुजरती थी वहाँ यह नदी गहरी भी थी और उसका बहाव तेज़ भी था क्योंकि ये पहाड़ी नदी थी वहाँ कोई पुल नहीं था तीनों नदी में उतर गए और बाजू एक दूसरे से उलझा लिए पानी बहुत तेज़ था उनके पाँव उठने लगे तीनों ने अपना एक एक बाजू एक दूसरे से आज़ाद करके तैरना शुरू कर दिया पानी का बहाव इतना तेज़ था के अगले किनारे के बजाय पानी उन्हें अपने साथ ले जा रहा था और पानी ठंडा इतना कि उनके जिसम अकड़ने लगे नदी बहुत चौड़ी तो नहीं थी लेकिन यूं पता चलता था जैसे यह मीलों चौड़ी हो गई हो वो आगे जाने के बजाय खासा पीछे किनारे पर लगी तीनों ने कपड़े उतार दिए और उन्हें निचोड़ा रात की यह हवा ने उनके जिस्मों को लकड़ियों की तरह अकड़ा दिया मीरा को ऐसा कोई ख्याल ना आया कि वो दो जवान साल आदमियों के सामने बरहना हो गई है तीनों ने निचोड़े हुए कपड़े पहन लिए और इसाक के कहने पर तीनों ने नाचना कूदना शुरू कर दिया ताकि जिसम गर्म हो जाए मीरा आखिर औरत थी कुदरती तौर पर उसका जिसम मर्दों जैसा सख्त जान नहीं था इसलिए उसने महसूस किया कि वो चल नहीं सकेगी इसाक़ और आसिर ने उसे अपने दरमियान खड़ा करके टुकनों से कंधों तक उसके जिसम को दबाना और मलना शुरू कर दिया और इस तरह कुछ देर बाद वो चलने के काबिल हो गई वो तीनों नदी के साथ साथ चलते गए वो पहाड़ी करीब आ गई थी जिस पर शाह बलूत का दरख्त था लेकिन ये उस पहाड़ी का एक सिरा था शाह बलूत का दरख्त उसके दूसरे सिरे पर था जो सिरा इन तीनों के करीब था वहाँ ये पहाड़ी ख़त्म हो जाती थी फिर वहाँ से ज़रा पीछे हटकर एक और पहाड़ी शुरू हो जाती थी इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान से ये तीनों शाह बलूत वाली पहाड़ी के पीछे जा सकते थे वो चलते गए चूँकि उनकी रफ़्तार तेज़ थी इसलिए उनके जिसम गर्म हो गए और अकड़न ख़त्म हो गई उन्हें यह तो मालूम था कि पहाड़ी के पीछे जाना है लेकिन इस इलाके में वो पहले कभी नहीं आए थे उनका ख्याल था कि जिस तरह दूर से ये खिता सरसब्ज और खूबसूरत नज़र आता है इसी तरह सफ़र के मामले में ये सहल और ख़ूबसूरत होगा लेकिन आगे गए तो उन्हें पता चला कि इस खत्े ने अपने हुस्न में कैसे कैसे ख़तरे छुपा रखे हैं वो जब दोनों पहाड़ियों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें यूँ महसूस हुआ कि वो किसी और ही दुनिया में जा निकले हों उनके सामने तीन तरफ पहाड़ियाँ दीवारों की तरह खड़ी थीं ये दीवारें किसी पुराने किले की पत्थरों की दीवारों जैसी थीं अंधेरे के बावजूद नज़र आ रहा था कि उनके दरमियान गदला पानी जमा है एक तरफ उस पानी और दीवार के दरमियान इतनी जगह खाली थी कि दो तीन आदमी पहलू ब पहलू आराम से गुजर सकते थे लेकिन कुछ दूर आगे पता नहीं चलता था कि ये रास्ता आगे जाता है या पानी में ही कहीं ख़त्म हो जाता है ये खौफनाक सी जगह थी सिर्फ यही एक रास्ता था जो पहाड़ी के पीछे जाता था पहाड़ी के ऊपर से तो वो जा ही नहीं सकते थे क्योंकि ऊपर जाकर वो नज़र आ सकते थे वो इस रास्ते पर इस तरह चले कि मीरा उनके पीछे थी ज़रा ही आगे गए होंगे कि उन्हें अपने पीछे पानी में हलचल सी महसूस हुई उन्होंने उसकी तरफ ध्यान ना दिया अचानक मीरा की चीख बुलंद हुई इसहाक और आसिर ने पीछे देखा मीरा गिर पड़ी थी और चीख चिल्ला रही थी उन्होंने ये देख लिया कि एक मगरमच्छ का सर और अगली टांगे पानी से बाहर हैं और मीरा का पाँव टुकने तक मगरमच्छ के मुंह में है मगरमच्छ मीरा को पानी में घसीट रहा था कुदरत ने मगरमच्छ के दांत नुकीले और ऐसे तीखे नहीं बनाए कि वो इंसान या जानवर के गोश्त में उतर जाएं। उसके दांतों के नीचे वाले सिरे गोल होते हैं जो शिकार को सिर्फ पकड़ते हैं और ऊपर नीचे के दांत बड़ा मजबूत शिकंजा बन जाते हैं इसाक और आसिर ने सिर्फ एक बार मगरमच्छ देखा था वो दोनों उस वक्त कमसिन लड़के हुआ करते थे दो आदमी उनके गांव के करीब से गुजरते वहां रुक गए थे उन्होंने एक मरा हुआ मगरमच्छ घोड़े पर डाल रखा था इसाक और आसिर ने देखा था और उन दोनों आदमियों ने बताया भी था कि मगरमच्छ के सर और पीठ पर ना बर्छी असर करती है ना तलवार वो ये भी कहते थे कि उसका पेट इतना नाजुक होता है कि एक खंजर भी पेट में उतर जाता है उसका दूसरा नाजुक हिस्सा उसका मुंह है अगर उसके घटे हुए मुंह के अंदर बर्छी मार दी जाए तो मगरमच्छ मरता तो नहीं जख्मी होकर भाग जाता है या उसकी आंखों में बर्छी या तलवार मारी जाए तो भी वो भाग जाता है मगरमच्छ मीरा को पानी में घसीट रहा था इसाक ने बड़ी तेज़ी से तलवार निकाली अंधेरा तो था लेकिन पानी की चमक में मगरमच्छ का हिवला नज़र आ रहा था इसाक ने मगरमच्छ की आंख का अंदाज़ा करके तलवार का ज़ोरदार वार कर दिया आसिर ने यह दलेरी कर दिखाई कि पानी में उतर गया जो उसके घुटनों तक गहरा था उसने मगरमच्छ के करीब जाकर नीचे से तलवार बर्छी की तरह मगरमच्छ के पेट में उतार दी ये दोनों वार ऐसे ठिकाने पर पड़े कि मगरमच्छ के मुंह से बड़ी खौफनाक आवाज़ निकली और वो मीरा का पांव छोड़कर तड़पता फड़फड़ाता हुआ पानी में डुबकी लगा गया मीरा बड़ी तेज़ी से उठी इसहाक और आसिर ने उसे हाथों पर उठा लिया और दौड़ पड़े आगे उन्हें रास्ता मिल गया पानी में बड़ी ज़ोर की हलचल हो रही थी यह यकीनन ज़ख्मी मगरमच्छ था जो तड़प रहा था उसकी देखा देखी दूसरे मगरमच्छ भी डरकर इधर उधर भाग दौड़ रहे थे यह रास्ता कुछ दूर चला गया पानी पीछे रह गया था पानी से कुछ दूर जाकर वो रुके और मीरा के पाँव का जायज़ा लेने लगे जिस जगह मगरमच्छ ने उसका टुकना पकड़ा था वहाँ हाथ फहरा तो साफ पता चलता था कि खून बह रहा है अगर मगरमच्छ के दांत दरिंदों की तरह नकीले होते तो मीरा की हड्डी भी कट जाती और उसका पाँव मगरमच्छ के साथ ही चला जाता चूंकि इस लड़की का पाँव मगरमच्छ के जबरों के शिकंजे में आया था और लड़की ज़ोर लगाकर अपना पाँव खींचती रही थी और मगरमच्छ उसे पानी में खींच रहा था इसलिए लड़की के टोकने से थोड़ी सी खाल उतर गई थी और हिड्डी पर अच्छी खासी ज़रब लगी थी इसहाक ने अपने सर पर डाला हुआ कपड़ा उतारा और कसकर मीरा के टखनों पर बांध दिया मीरा के लिए दर्द नाकबिल बर्दाश्त हो रहा था और वो चलने में दुशारी महसूस कर रही थी मेरी एक बात गौर से सुनो मीरा ने कहा यह अच्छा शगुन नहीं मेरा दिल कहता है कि यहीं से वापस चले चलो होश ठिकाने रखो मीरा इसहाक ने कहा यहाँ तक आकर हम वापस नहीं जाएंगे रब्बी और फादर हमें बुजदिल कहेंगे आसिर ने कहा वो कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं बेहतर तो यह है कि तुम यहीं कहीं छुप कर बैठ जाओ और हम अपना काम करके वापस आ जाएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे नहीं मीरा ने खौफजदा आवाज़ में कहा मैं यहाँ अकेली नहीं रहूँगी मैं कह रही हूँ वापस चलो मैं इतना ज़्यादा कभी भी नहीं डरी थी तुम्हें मगरमच्छ ने डरा दिया है इसहाक ने कहा वो खौफ दिल से उतार दो मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मीरा ने कहा मेरे दिल पर कोई खौफ नहीं अगर हम वैसे घूमने फिरने आए होते और मगरमच्छ मुझे यूं पकड़ लेता तो मैं इतना ना डरती मैं ये कह रही हूँ कि यह शगुन अच्छा नहीं मगरमच्छ ने किसी गैबी ताकत के इशारे पर मुझे पकड़ लिया था ये तुम्हारे लिए इशारा है कि यहीं से वापस चले चलो वरना आगे मौत है इसहाक भाई आसिर ने कहा वक्त ज़ाय ना करो अगर तुम इस लड़की की बातों में आ गए तो हम अपना काम किस तरह करेंगे रबी और फादर को क्या जवाब देंगे तुम जानते हो कि उन्हें हम दोनों पर कितना भरोसा है मेरी बात सुनो मीरा इसहाक ने कहा तुमने रब्बी के साथ जो बातें की थीं वो ना भूलो तुमने कहा था कि तुम हमारी मदद करोगी तुमने ये भी कहा था कि अगर यहाँ कोई आदमी हुए तो तुम उन्हें अपने हसन जवानी के जाल में ले लोगी तुम्हारी इन बातों से मुतासर होकर रब्बी ने तुम्हें हमारे साथ आने की इजाज़त दी थी रब्बी ने तुम्हें कहा था कि तुम हमारे पाँव की जंजीर बन जाओगी तुम वही काम कर रही हो जिसका रब्बी ने खदशा पहले ही देख लिया था हम तो अब अपना फ़र्ज़ अदा करके ही जाएंगे मुझे साफ नज़र आ रहा है इसहाक मीरा ने कहा तुम यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाओगे इसहाक और आसिर झिंझला उठे इसहाक ने मीरा का बाजू पकड़ा और उसे उठाकर कहा कि वो उसके साथ चले मीरा उसके साथ चल पड़ी वो चलने में दुश्वारी और दर्द महसूस कर रही थी उसकी वजह से इसाक और आसिर की रफ्तार भी सुस्त हो गई थी वो अब उस पहाड़ी के दामन में जा रहे थे जिस पर शाह बलूत का दरख्त था दामन में वो ऊपर से किसी को नज़र नहीं आ सकते थे इस पहाड़ी के ऊपर जो कुछ भी था उसे देखने के लिए पिछली पहाड़ी पर जाना ज़रूरी था इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान कमोबेश साठ कदम फासला था नीचे मैदान था जिसमें ऊंची घास थी और दरख्त भी थे पीछे वाली पहाड़ी ऐसी नहीं थी कि उसकी सिर्फ ढलान होती यह पहाड़ी ऊंची नीची चट्टानों का झुरमट थी जिस पर चढ़ना ज़रा दुशवार था थोड़ा और आगे गए तो उन्हें दोनों पहाड़ियों के दरमियान रोशनी सी नज़र आई जो सामने वाली पहाड़ी पर कहीं ऊपर थी साफ पता चलता था कि किसी ने आग जला रखी है वो जूं जूं आगे बढ़ते गए रोशनी ज़्यादा होती गई और उसके साथ ही उन्हें किसी की बातों की आवाज़ सुनाई देने लगी कुछ आदमी बहुत दूर बातें कर रहे थे इसाक और आसिर ने आपस में मशवरा किया और इस फैसले पर पहुंचे कि वहीं से पिछली पहाड़ी पर चढ़ जाएं क्योंकि पीछे बुलंदी पर जाकर ही पता चल सकता था कि ये आग कहाँ जल रही है और बातें करने वाले कहाँ हैं वो कुछ और आगे जाकर पिछली पहाड़ी पर चढ़ने लगे वो पहाड़ी कुछ अजीब सी थी कहीं नंगी और सीधी खड़ी चटाने नज़र आती थीं और कहीं दूसरी पहाड़ियों की तरह सब्जेदार और दरख्त आ जाते थे ऐसी एक चट्टान पर चढ़ते चढ़ते इसहाक का पाँव फिसल गया और वो चट्टान से गिरकर नीचे वाली चट्टान पर जा पड़ा और वहाँ से लुढ़कता हुआ नीचे जा रुका मीरा उसके पीछे उतरने लगी लेकिन आसिर ने उसका बाजू पकड़ लिया यहीं रहो आसिर ने कहा तुम भी फिसल कर गिरोगी वो तो मर्द है बर्दाश्त कर लेगा तुम पहले ही ज़ख्मी हो इसाक उठा उसे चोट तो आई थी लेकिन वो चोट से बेनियाज पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अपने साथियों से जा मिला मीरा ने एक बार फिर अपने उसी वहम का इजहार किया कि यह दूसरा बुरा शगुन है और ये किसी आसमानी मखलूक के इशारे हैं कि वापस चले जाओ और उनके मज़ाहिर में दखल ना दो इसहाक ने जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो वो इस तरह पहाड़ी के ऊपर ऊपर चल पड़ा जैसे उसने आसमानी मखलूक का चैलेंज कबूल कर लिया हो उसके चलने के अंदाज में कहर और इताब था उधर पहाड़ी से कुछ दूर लोगों का हुजूम इस उम्मीद पर पहाड़ी की तरफ देख रहा था कि आज फिर शाह बलूत में सितारा चमकेगा या वो सफ़ेद पोश नज़र आएगा जो एक बार नज़र आ चुका है तीन चार दिन न सितारा चमका था न सफ़ेद पोश ने जलवा दिखाया था यह खबर इस इलाके में दूर दूर तक फैल गई थी इसलिए तमाशाइयों का हजूम बहुत ही ज़्यादा हो गया था उस रात लोगों की मुराद पूरी हो गई पहले नकारा बजा उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मधम होते होते रात की तारीकी में तहलील हो गई फिर एक से ज़्यादा शहनाइयों की ऐसी लय उभरी जिसमें शहर अंगीज सूस था हजूम का शोरगुल ऐसे सकूत में दम तोड़ गया जैसे वहाँ कोई जी रूह कोई जानदार जिंदा ही ना हो ज़मीन व आसमान पर पेड़ पौधों और पहाड़ियों पर जैसे वजत तारी हो गया हो लोगों को अंधेरे में शाह बलूद क्या नज़र आता वो पहाड़ भी नज़र नहीं आ रहा था जिस पर वो दरख्त खड़ा था लोग नगमे में महू थे कि कई आवाज़ें उठीं वो चमका और इसके साथ ही लोगों ने कलम तय्यबा का विरत शुरू कर दिया एक गूंज थी जिसमें वजद आफरीन तासर महूत और तकदस था उसके साथ रात की तारीकी में हवा की लहरों पर शहनाइयों की तैरती हुई लय ऐसा समा बांध रही थी जिसका ताल्लुक इस दुनिया से मालूम नहीं होता था सितारा बुझ गया और फिर पहले की तरह एक रोशनी छतरी नुमा शाह बलूद पर चलने लगी फिर ये एक मुकाम पर जा रुकी और नीचे आने लगी जैसा पहले एक रात हुआ था रोशनी नीचे आई तो सफ़ेद पोश का असर कंधे और सीना नज़र आया उसके बाजू कुछ बाहर को और कुछ आगे को यूं फैले हुए थे जैसे दुआ मांग रहा हो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता नीचे गई और सफ़ेद पोश के पाँव तक चली गई हुजूम में जो चंदेक सब्ज पोश थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया सजदे में चले जाओ हमारा निजात दहिंदा ज़मीन पर उतर आया है कुछ लोग तो पहले ही सजदे में चले गए थे बाकी भी सजदा रेज हो गए लोग सजदे से उठे और उन्होंने सामने देखा वहाँ ना सितारा था ना सफ़ेद पोश खुदा के एलची का जहूर हो गया है पहाड़ की तरफ से एक बड़ी ही बुलंद आवाज़ हजूम तक पहुंची वो दो चार दिनों में तुम्हारे सामने आ जाएगा खुदा का पैगाम लाएगा खुदा का शुक्र अदा करो लोगों उस वक्त जब सितारा अभी चमका नहीं था इसहाक आसिर और मीरा पिछली पहाड़ी पर इतना आगे चले गए थे कि उन्हें शाह बलूत वाली पहाड़ी की पिछली ढलान पर एक खासा कुशादा गार दिखाई दिया उसके अंदर लकड़ियों के एक बहुत बड़े ढेर को आग लगी हुई थी उसके शोले गार की छत तक पहुंच रहे थे उस गार की रोशनी चूंकि पीछे वाली ढलान में थी इसलिए उसकी रोशनी पहाड़ी की उस जानब नहीं जा सकती थी जिस जानब लोगों का हजुम सितारा देखने के लिए इकट्ठा हो गया था इसहाक और उसके साथियों ने वहाँ पाँच छः आदमी घूमते फिरते देखे एक आदमी थोड़े थोड़े वक्फे से आग में लकड़ियाँ फेंक रहा था गार से कुछ दूर तकरीबन एक गज़ लंबी और उसी कदर चौड़ी किसी धात की एक चादर सी रखी हुई थी कभी तो शक होता था कि ये आईना है और कभी यूँ लगता था जैसे ये किसी ऐसी धात का चादर नुमा टुकड़ा है जो आईने की तरह चमकता है या उस पर चांदी का पानी चढ़ा दिया गया है या अबरक जैसी चमकने वाली कोई चीज़ चिपकाई गई है इसाक वगैरह वो दरख्तों के तनों के पीछे खड़े देख रहे थे फासला ज़्यादा नहीं था उन्हें हर आदमी और हर चीज़ अच्छी तरह नज़र आ रही थी सामने वाली पहाड़ी की पिछली ढलान पर शाह बलूद के दरख्त के करीब वो चमकती चादर पड़ी थी दो आदमियों ने आकर यह चादर उठाई और इधर उधर से पकड़कर ऐसे जाविये पर कर लिया कि उसकी चमक सीधी पिछली पहाड़ी पर उन दो दरख्तों पर पड़ी जहां इसहाक वगैरह छुपे देख रहे थे चमक फ्लड लाइट जैसी थी इतनी तेज़ कि इन तीनों की आंखें खैरा हो गईं वो फौरन तनों के पीछे हो गए ये चादर रख दी गई एक आदमी ना जाने कहाँ से सामने आया वो सर से पांव तक सफ़ेद लुबादे में मलबूस था चलो भाई आ जाओ सफ़ेद पोश ने कहा ऊपर कौन जाएगा एक आदमी आगे आया उसने एक जगह से एक चीज़ उठाई ये यकीनन आईना था जिसकी लंबाई तकरीबन एक फीट और चौड़ाई उससे कुछ कम थी उसने पहले तो ये अपने सामने करके यूं देखा जिस तरह आईना देखा जाता है फिर उसने उसे आग की तरफ करके इधर उधर हिलाया उसकी चमक पहाड़ी की ढलान पर इस तरह दिखाई दी जिस तरह आईना सूरज के आगे रखो तो सामने की अशिया पर उसकी चमक दिखाई देती है ये आदमी आईना उठाते हुए पहाड़ी पर शाही बलूत की तरफ चढ़ गया अब वो अंधेरे में था गार की आग की रोशनी उस तक नहीं पहुंच सकती थी इसहाक और उसके साथियों का सिर्फ अंदाज़ा था कि ये आदमी दरख्त पर चढ़ गया है कुछ देर बाद उन्हें दरख्त के अंदर चमक दिखाई दी जो फौरन ख़त्म हो गई जानते हो दरख्त में क्या हो रहा है इसहाक ने आसिर से पूछा तुम्हारे रब्बी का शक गलत नहीं निकला आसिर ने कहा मैं बता सकता हूं ऊपर क्या हो रहा है उस आग की चमक उस आईने पर पड़ रही है जो वो आदमी ऊपर ले गया है और आईने की चमक उन लोगों को दिखाई दे रही है जो पहाड़ी के उस तरफ हजूम की सूरत में मौजूद है देखो आग कितनी ज़्यादा है इसहाक ने कहा अगर इतनी आग पहाड़ी की चोटी पर जलाई जाए तो ये सारा इलाका रोशन हो जाए अब तस्वुर में लाओ कि शाह बलूद की शाखों में तुमने सितारा चमकता देखा है समझना कोई मुश्किल नहीं ये सब इंसान हैं लेकिन ये हैं कौन मीरा ने पूछा ये कैसे मालूम करोगे हम तीन हैं इसहाक ने कहा बल्कि हम दो हैं मीरा को शामिल ना करो वो पाँच छः हैं हम उन पर हमला नहीं कर सकते अगर हमारे साथ दो तीन आदमी और होते तो किसी और तरफ से उस पहाड़ी पर जाकर उनमें से एक दो को जिंदा पकड़ लेते ठहरो इसहाक आसिर ने कहा वो आदमी दरख्त से उतर आया है वो देखो सफ़ेद पोश ऊपर जा रहा है मैं बताता हूं अब क्या होगा इसहाक ने कहा यह सफ़ेद लुबादे वाला आदमी दरख्त के नीचे जा खड़ा होगा और उस पर चमकती हुई धात की चादर की रोशनी डाली जाएगी लोग समझेंगे कि किसी पैगंबर का जहूर हुआ है ऐसे ही हुआ वो आदमी दरख्त के नीचे चला गया उधर वो चादर आग के सामने ऐसे जाविये पर रखी गई कि उसकी चमक उस आदमी पर पड़ने लगी पहले उस रोशनी को दरख्त पर घुमाया गया फिर उसे उस आदमी पर मरकूज कर दिया गया उधर हजूम ने कलम तय्यबा का विरत शुरू किया तो उसकी गूंज उन पहाड़ों तक सुनाई देने लगी कुछ देर बाद ये प्लेट या चादर रख दी गई और एक आदमी इंतहाई बुलंद आवाज़ से ऐलान करने लगा खुदा के एलची का जहूर हो गया है वो दो चार दिनों में तुम्हारे सामने आ जाएगा खुदा का पैगाम लाएगा खुदा का शुक्र अदा करो लोगों फिर वो सफ़ेद पोश वापस आ गया हमने ये तो देख लिया है कि ये हमारी तरह इंसान है इसहाक ने कहा यह हम रब्बी और फादर को बताएंगे मालूम नहीं वो क्या करेंगे मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि जिस तरह हम तीनों यहाँ तक पहुँच गए हैं उसी तरह कल शाम 20-25 आदमी सामने वाली पहाड़ी के एक तरफ छुप कर बैठ जाएं और इन सब को मौके पर पकड़ लें फिर लोगों को रात ही रात इस पहाड़ी पर ले आएं और उन्हें दिखाएं कि ये शैतान लोग किस तरह उन्हें गुमराह कर रहे थे मुझे यकीन है यह मुसलमान हैं इसहाक ये बात कर ही रहा था कि मीरा की दिलदोज और बड़ी ही बुलंद चीख सुनाई दी इसहाक और आसिर ने घबराकर इधर देखा गार में जलती हुई आग की रोशनी उन तक पहुंच रही थी उस रोशनी में उन्होंने देखा कि जिस दरख्त की ओट में मीरा छुपी हुई थी उसके तने पर एक खासा लंबा सांप नीचे को आ रहा था मीरा का शायद हाथ सांप को लग गया था सांप ने उसे बाजू पर काटा था इसहाक ने बड़ी तेज़ी से तलवार निकाली और सांप के दो टुकड़े कर दिए मीरा अपने बाजू पर हाथ रखकर बैठ गई उसके मुंह से अजीब सी चीखें निकल रही थीं इसाक़ और आसिर उसके पास बैठ गए और देखने लगे कि सांप ने कहाँ काटा है सांप की दहशत ने और मीरा की बिगड़ती हुई हालत ने उनके होशो हवास इस हद तक गुम कर दिए थे कि उन्होंने ये भी ना देखा कि सामने वाली पहाड़ी पर सफ़ेद पोश और उसके साथी उनकी तरफ देख रहे हैं और उन्होंने इन तीनों को देख लिया है मीरा की चीख इतनी बुलंद थी कि सामने वाली पहाड़ी के लोगों ने सुन ली थी और उन्होंने चौंक कर इस तरफ देखा था सांप का जहर मीरा के जिसम में सुरायत कर रहा था वो तड़पने लगी तकलीफ़ की शिद्दत से वो उठी और चक्कर लगाकर गिरी और ऐसी गिरी कि ऊपर से लुढ़कती हुई नीचे जा पड़ी इसहाक और आसिर ये फरामोश करके कि वो कहाँ हैं उसके पीछे बड़ी तेज़ी से पहाड़ी से उतरे मीरा तड़प रही थी उसके चेहरे का रंग गहरा नीला बल्कि सियाह होता जा रहा था और वो बुरी तरह तड़प रही थी इसहाक और आसिर उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे इसे उठाओ इसहाक आसिर ने कहा कुछ तुम उठाओ कुछ मैं उठाता हूं और यहां से निकलते हैं ये तो रास्ते में मर जाएगी इसहाक ने कहा मर गई तो इसे मगरमच्छों वाले पानी में फेंक जाएंगे वह दोनों मीरा को उठाने ही लगे थे कि उन्हें कदमों की आहटें सुनाई दी उन्होंने बिदक कर पीछे देखा तो उनके अवसान ख़ता हो गए वो सात आठ आदमियों के नरगे में आ गए थे उनमें सफ़ेद पोश भी था उनमें से किसी के पास तलवार थी और किसी के पास बर्छी सफ़ेद पोश ने आगे बढ़कर उन दोनों के नियामों में से तलवारें निकाल लीं उनमें से एक और आदमी आगे बढ़ा और उसने इनके कमरबंदों में उड़से हुए खंजर भी ले लिए मीरा का तड़पना खासा कम हो गया था उसे मरना था वो होश में नहीं थी गार की आग की रोशनी नीचे तक आ रही थी इन्हें ऊपर ले चलो सफ़ेद पोश ने कहा और इसहाक और आसिर से कहने लगा इस लड़की को यहीं पड़ा रहने दो ये चंद लम्हों की मेहमान है मैंने देख लिया है कि उसे सांप ने डसा है इस जगह के सांप जिसे डस लें उसे ज़िंदा नहीं रहने दिया करते ये जवान थी इसलिए अभी तक इसका जिसम ज़रा ज़रा हरकत कर रहा है क्या तुम लोग हमें रिहा नहीं कर देते इसहाक ने इल्तिजा के लहजे में कहा अगर हम इतने अहमक होते तो इतनी ज़्यादा मखलूक खुदा से ये ना मनवा सकते कि शाह बलूद के नीचे एक नबी का जहूर हो रहा है सफ़ेद पोश ने कहा जिनके पास हमारा इतना नाजुक राज है उन्हें हम रिहा नहीं कर सकते हम दोनों आपके साथ हो जाएंगे आसिर ने कहा और आप जो भी काम बताएंगे करेंगे तुम कौन हो सफ़ेद पोश ने इसहाक से पूछा तुम्हारा मज़हब क्या है सच सच बता दो तो शायद हम तुम पर रहम कर दें मेरा नाम इसहाक है इसहाक ने जवाब दिया और मैं यहूदी हूँ मेरा नाम आसिर है आसिर ने कहा और मैं ईसाई हूँ यहाँ क्यों आए थे सफ़ेद पोश ने पूछा और कहा मुझे ये ना बताना कि तुम दोनों इस लड़की को साथ लेकर यहाँ सैर और तफरीह के लिए आए थे यहाँ तक कोई आदमी नहीं पहुँच सकता एक तरफ मगर मच्छों ने रास्ता बंद कर रखा है और दूसरी तरफ ऐसी दलदल है जिसमें से कोई गुजर नहीं सकता इसहाक ने उसे बिल्कुल सच बता दिया कि वो दोनों यहां क्यों आए थे और ये लड़की किस तरह साथ चल पड़ी थी तुम्हारे रब्बी और पादरी को हम एक सबक देंगे सफ़ेद पोश ने कहा अब यहूदियों का जादू नहीं चल सकता अब हसन बिन सबाह का जादू चलेगा इसहाक और आसिर को ऊपर ले गए वो अब भी मिन्नत समाजत कर रहे थे कि उन्हें छोड़ दिया जाए उन्हें बातों बातों में आग के करीब ले गए तपिश इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ खड़ा नहीं रहा जा सकता था मिशकीज़ों वाले आदमी आग पर पानी फेंकने लगे थे क्योंकि अब आग की ज़रूरत नहीं थी सफ़ेद पोश ने इशारा करके उन्हें पीछे हटा दिया फिर उसने दूसरे आदमियों को ऐसा इशारा दिया कि दो तीन ने इसहाक को और दो तीन ने आसिर को पकड़ लिया और उन्हें धकेलते घसीटते हुए आग के करीब ले गए दोनों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया वो समझ गए थे कि उन्हें आग में धकेला जा रहा है सफ़ेद पोश के आदमियों ने दोनों को इतनी ज़ोर से धके दिए कि वो आग में जा पड़े आग इस कदर ज़्यादा थी कि वो उसमें गिरे और फिर उनकी आवाज़ भी ना निकली जब वो जलकर कोयला हो गए तो सफ़ेद पोश ने मिशकीज़ों वालों से कहा कि अब आग पर पानी फेंक दो इस रात का नाटक ख़त्म हो चुका है इसलिए अब आग की ज़रूरत नहीं रही थी अगले रोज़ शाहदर में अहमद बिन गताश अपने ख़ास कमरे में बड़ी बेताबी से हसन बिन सबाह का इंतज़ार कर रहा था उसने दो बार अपना आदमी उसे बुलाने के लिए भेजा था और दोनों बार वो ये जवाब लेकर वापस आया था कि हसन रात बहुत देर से आया था इसलिए बड़ी गहरी नींद सोया हुआ है वो सफ़ेद पोश जो शाह बलूत के नीचे लोगों को नज़र आ चुका था वो हसन बिन सबा ही था रात इसहाक और आसिर की वजह से हसन को वहाँ ज़्यादा वक्त रुकना पड़ा इसलिए सुबह वो देर से उठा वो जगह शहदर से खासी दूर थी शहदर से वहाँ तक ये लोग ऊँटों पर जाते और सुबह तुलू होने से पहले वापस आ जाते थे ऊँटों पर आने जाने की वजह यह थी कि उनके कदमों की आहट नहीं होती रात के सन्नाटे में घोड़े के टाप दूर दूर तक सुनाई देते थे इसलिए पता चल जाता है कि फुलान जगह से एक या एक से ज़्यादा घुड़सवार गुजर रहे थे सूरज सर पर आ गया था जब हसन बिन सबाह की आंख खुली और वो बड़ी तेज़ी से गसल वगैरह करके अहमद बिन गताश के यहाँ जा पहुँचा आओ हसन अहमद बिन गताश ने कहा मुझे तुम्हारे साथी बता चुके हैं कि रात एक यहूदी और एक ईसाई ने नबी के जहूर का राज अपनी आंखों से देख लिया था तुमने अच्छा किया कि दोनों को आग में फेंक दिया उनकी साथी लड़की को तो सांप ने पहले ही ख़त्म कर दिया था हसन बिन सबाह ने कहा उन दोनों आदमियों में जो ईसाई था उसने मुझे बताया था कि इस लड़की को पहले ही एक मगरमच्छ ने पाँव से पकड़ लिया था और इन दोनों ने तलवारों से मगरमच्छ को ज़ख्मी करके लड़की को मगरमच्छ के मुंह से निकाल लिया था यह उस शहर का असर था जो मैंने तुम्हारे हाथों करवाया था अहमद बिन गताश ने कहा मैंने उस शहर में यह असर पैदा किया था कि तुम्हारे रास तक पहुँचने वाले खैरियत से ना पहुँच सकें और अगर पहुँच जाएं तो तुम्हें उनकी मौजूदगी का इशारा मिल जाए हमारा जादू कामयाब रहा मुहतरम उस्ताद हसन बिन सबाह ने कहा मैंने उस रब्बी और पादरी का पता मालूम कर लिया है जिन्होंने इन दोनों आदमियों को भेजा था उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया जाए तो बेहतर है वरना उनका खतरा मौजूद रहेगा कि ये किसी और तरह हमारा रास पालेंगे हमें ये इत्मीनान हुआ है कि ये जासूस सलजोकियों के नहीं थे हाँ हसन अहमद बिन गताश ने कहा हमारा मंसूबा ऐसा है कि किसी से ज़रा सा भी खतरे का सिर्फ शक ही हो उसे बिल्कुल ही गायब कर देना ज़रूरी है तुम्हारे पास आदमी हैं उन्हें इस्तेमाल करो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को किस तरह गायब करते हो ये मैं करके बताऊंगा कि मैंने ये काम किस तरह किया है हसन बिन सबाह ने हंसते हुए कहा आपकी शागिर्दगी में मुझे इतनी सूझबूझ मिल गई है कि मैं इस गांव के बच्चों से बूढ़ों तक को ऐसा लापता कर सकता हूँ जैसे कभी वो दुनिया में आए ही नहीं थे अब मेरी एक बात गौर से सुनो अहमद बिन गताश ने कहा हमारा ये तरीक़ा सौ फीसद से कुछ ज़्यादा कामयाब रहा है अब तुमने उन लोगों के सामने आना है ये हज़ारों लोग तुम्हारे मुरीद हो चुके हैं अब हम यकीन से कह सकते हैं कि अगले दो किले भी हमारे हैं ये तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुम लोगों के सामने किस तरह जाओगे दूसरी बात यह जहन में रख लो कि शहर और जादू पर भरोसा नहीं रखना भरोसा अपनी अकल और फहम फिरास्त पर करना है ये सही है कि में सामेरी को तोड़ने वाला अब कोई मूसा नहीं रहा और ना ही कोई मूसा आएगा लेकिन ये याद रखो कि लोग शहर और जादू हर किस्म के हालात से तुम्हारी मदद नहीं कर सके लेकिन ये याद रखो कि शहर और जादू हर किस्म के हालात में तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा अपनी अकल का जादू चलाओ ये ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बाद में भी समझाऊंगा तुमने देख ही लिया है कि मेरी इस बात में कितनी हकीकत है कि लोगों को तुम बदी से हटने के सबक दोगे तो वो तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे जो हमसे पहली कौमों ने अपने पैगंबरों के साथ किया था लोगों को अपना मुरीद बनाने का तरीक़ा यही है कि बदी के ज़रिए पुरसरार तरीक़े इस्तेमाल करो जो अकल नज़र आए और जिनमें ऐसा तासर हो कि लोग बिला सोचे समझे तुम्हारी असरारियत से मुतासर होकर सजदा रेज हो जाएं। तुमने देख लिया है कि हज़ारों लोगों ने तुम्हारे आगे सजदा किया है मैं पैगंबर नहीं हसन लेकिन मैं आने वाले वक्त के मुतालिक पेशन गोई कर सकता हूँ कि लोग जादूगरों और साहिरों के पास जाया करेंगे और उनसे अपने मुश्किल हल करवाएंगे और शहर के ज़रिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे और कुछ लोग लोगों को साहिरी का धोखा देकर लूटेंगे आज के लोगों की यह कमज़ोरी उनकी नस्लों दर नस्लों तक जाएगी ये बातें बाद में होंगी तुम उस यहूदी रब्बी और ईसाई पादरी का बंदोबस्त करो दो ही दिन गुजरे सूरज गरूब होने के बाद दो अजनबी उस यहूदी रब्बी के यहाँ गए जिसने इसहाक को भेजा था उन्होंने नहायत पूरा अंदाज में रब्बी को बताया कि इसहाक और आसिर नाम के दो आदमी और मीरा नाम की एक लड़की जो राज मालूम करने में कामयाब हो गए हैं जिसके लिए उन्हें भेजा गया था लेकिन एक जगह फंस गए हैं जहाँ वो फंसे हैं वहाँ के सरकर्दा आदमी अपने ही हैं लेकिन वो कहते हैं कि जब तक रब्बी और पादरी खुद नहीं आएंगे वो इन तीनों को नहीं छोड़ेंगे वो लोग हमारी पूरी मदद करेंगे लेकिन रब्बी और पादरी का वहां जाना ज़रूरी है उन दोनों आदमियों ने ज़ुबान के ऐसे जादू चलाए कि रब्बी और पादरी उनके साथ चल पड़े उन दो आदमियों ने उन्हें अपने घोड़ों पर सवार कर लिया था और खुद पैदल चल रहे थे वो एक और रास्ते से दो पहाड़ियों के दरमियान से उस जगह पहुंचे जहां पानी जमा था और एक मगरमच्छ ने मीरा का पांव पकड़कर उसे पानी में घसीटा था उस रात भी हजारहा लोगों का हुजूम शाह बलूत वाली पहाड़ी से कुछ दूर इस उम्मीद पर बैठा था कि सितारा चमकेगा और पैगंबर का जहूर होगा लेकिन उस रात हसन बिन सबाह ने यह नाटक नहीं दिखाना था पानी के करीब जाकर उन दोनों आदमियों ने रब्बी और पादरी को यह कहकर घोड़ों से उतारा कि घोड़े पानी पी लें जो ही ये दोनों मजहबी पेशवा घोड़ों से उतरे उन दोनों आदमियों में से एक ने पादरी को और दूसरे ने रब्बी को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो पानी में जा पड़े दोनों बूढ़े थे जवान आदमियों के धक्के देने से वो पानी में खासा दूर जा गिरे थे तीन चार मगरमच्छ बड़ी तेज़ी से आए और रब्बी और पादरी को जबड़ों में जकड़कर इस कुदरती तालाब की तह में ले गए थोड़ी ही देर में उन दोनों के जिस्मों के टुकड़े मगरमच्छों के पेट में जा चुके थे और वो दोनों अजनबी घोड़ों पर सवार शाहदर के रास्ते पर जा रहे थे इस खत्े के लोग इब्लिसियत के जाल में आ गए थे